अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर अपने सभी साधक मित्रों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें संगम शरणम गच्छा हुए गाएं वह पुनः झुककर ओशो तथा सभी संतों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें कर बैठे अनुसरण करते हुए गाएं व अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के प्रति आहुभाव व्यक्त करें ओ समझ लेनी जरूरी है कि ध्यान का श्वास से बहुत गहरा संबंध है तो सबसे पहली बात तो 10 मिनट गहरे श्वास का प्रयोग करना है इस प्रयोग में सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है श्वास भीतर गई तो हमें जानते हुए कि श्वास भीतर जा रही है ध्यान को भीतर ले जाना है श्वास बाहर गई तो जानना है कि श्वास बाहर जा रही है उसके साथ ही ध्यान को बाहर ले जाना है ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे एक तो कोई किसी को छूता हुआ न बैठे दूसरी बात शरीर को सीधा रख के बैठे अकड़ाने की जरूरत नहीं है आराम से जितना सीधा हो सके फिर आंख बंद कर लें और आंख भी बंद करने का मतलब है आंख पर भी जोर न डालें आहिस्ते से पलक बंद हो जाने दें आंख बंद कर लें फिर ले जाएं फिर छोड़ दें रोकना नहीं है ले जाना है छोड़ देना है और पूरे दस मिनट के बाद मैं कहूंगा तब आप आंख खोलेंगे तब तक श्वास पर ही ध्यान रखना है श्वास भीतर गई तो हम जानते हुए भीतर जाएं श्वास बाहर गई तो हम जानते हुए बाहर जाएं ध्यान का मतलब यह है कि श्वास की जो गति है भीतर और बाहर वो हमसे चूक ना पाए हम उसके साथ ही बाहर भीतर डोलते रहे शुरू करें आंख बंद कर लें गहरी श्वास लें बस श्वास ही रह जाएगी दस मिनट के लिए और सब बंद हो जाएगा गहरी श्वास भीतर ले जाएं पूरे फेफड़े भर लें फिर बाहर निकालें भीतर ले जाएं बाहर निकालें दस मिनट में मन बहुत शुद्ध और शांत हो जाएगा फिर हम दूसरा ध्यान का प्रयोग करेंगे दस मिनट के लिए ये प्राथमिक काम करें अब मैं चुप हो जाता हूँ दस मिनट बाद आपको सूचना करूंगा तब तक आंख नहीं खोलनी है श्वास गहरी लेनी है और ध्यान श्वास पर रखना है Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Música Oh. दूसरा प्रयोग तो दूसरा दस मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे सर्व स्वीकार का जो भी हो रहा है मैं उससे राजी हूं मेरा कोई विरोध नहीं अविरोध नॉन रेसिस्टेंस दूसरा सूत्र है तो हम 10 मिनट के लिए फिर बैठे गहरी श्वास लेंगे श्वास पर ध्यान रखेंगे और साथ ही दूसरा प्रयोग करेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं मैं स्वीकार करता हूं मेरा कोई विरोध नहीं और जैसे ही ये भाव भीतर घना होगा कि मैं राजी हूं मैं स्वीकार करता हूं वैसे ही मन गहरी शांति में उतरने लगेगा पुनः आंख बंद कर लें गहरी श्वास श्वास पर ध्यान और चारों ओर के जीवन की स्वीकृति विरोध नहीं मन को गहरी से गहरी शांति के रास्ते पर अपने आप गति मिलने शुरू हो जाती किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं विरोध नहीं विरोध से ही बाधा बन जाती Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you. Música Mm-hmm. Mm-hmm. बात मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं मनुष्य के ही तरफ से है और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल मैं हूं तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा तो तीसरे प्रयोग को करें तीसरा प्रयोग है मैं नहीं हूं इस भाव में डूब जाना है फिर से पुनः आंख बंद कर लें गहरी श्वास लेना शुरू करें श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर जाए देखते रहे ये श्वास भीतर गई ये श्वास बाहर लौटी ये फिर भीतर गई ये फिर बाहर लौटी श्वास को देखते रहे श्वास अनदेखी ना रहे श्वास की स्मृति बनी रहे ये श्वास भीतर जा रही ये श्वास बाहर जाने लगी श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो फिर सब स्वीकार का भाव रहे जो भी है स्वीकार है जो भी है स्वीकार है और तीसरे प्रयोग में डूब जाए एक भाव करें जैसे बूंद सागर में गिर जाती है ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में मिट गया मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Música Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Música Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Música Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Música Mm-hmm. oh, hmm Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. 嗯。